नमस्कार सार्क मुल्कों के पहले जुनूबी एशियाई मेले में और उस मौके पर कव्वाली की इस महफिल में आप सबका इस्तकबाल है स्वागत है एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए ये मोहब्बत का ऐसा शजर है जो लगाया है हिंदुस्तान में सात मुल्कों ने मिलकर जिसकी इब्तदा बहुत पहले हुई थी और जैसा कि हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम सातों मुल्क जोग्राफियाई एतबार से पड़ोसी हैं हमारे मौसम भी एक हैं हमारा तर्ज ज़िंदगी भी एक है और हमारे लिए जो चुनौतियां हैं वो भी एक हैं और हम एक दूसरे से सहयोग करते हैं एक दूसरे के दर्द में शरीक हैं अगर हमारे रंग और हमारे नाम एक से नहीं तो क्या अगर हमारी सरजमीन बांट दी गई तो क्या अगर हमारे सर पे आसमां की धज्जियां उड़ी तो क्या हुआ सुनो हम एक हैं हमारी इब्तदा भी एक और हमारी इंतहा भी एक हम एक कारवां के हम कदम हमारा रास्ता भी एक हमारी मुख्तसर हयात के सभी शराब एक हैं सुनो हम एक हैं हमारी मामताएं एक सी हमारे बचपने भी एक हमारी चाहते भी मुख्तलिफ नहीं हमारे रंज एक से हमारी राहतें भी मुख्तलिफ नहीं हमारे ख्वाब एक हैं सुनो हम एक हैं ख़वान हजरात कव्वाली हमारी तहजीब को सूफ़ी संतों की देन है जिन्होंने आपसी भाईचारा और प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाने के लिए कव्वाली की गायकी को जन्म दिया कव्वाली का सबसे पहला आहंग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमत के दरबार अजमेर में गूंजा आपने संस्कृत फारसी अरबी और दूसरी भाषाओं को मिलकर कव्वाली का खमीर तैयार किया और उससे इस गायकी को जन्म दिया इसका सबसे पहले जन्म भारत में हुआ हिंदुस्तान में हुआ और उसके बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन अलिया के दरबार के एक दरबारी उनके मुरीद हज़रत अमीर खुसरो ने इस गायकी को आगे बढ़ाया और वही रिवायत जो उन्होंने कायम की थी आज तक जारी और सारी है कवाली की ये महफिल नए और पुराने ज़मानों का एक संगम है वो ज़माना जब हिंदुस्तान की अजीम तहजीब का सफ़र शुरू हुआ और वो ज़माना जब एशिया की अजीम सरजमीन पर खला रोशनी और आवाज़ की तमाम वसतें और तमाम बरकतें यकजा हुई हमारे पहले फ़नकार हैं हमारे मेज़बान जाफ़र हुसैन और उनके हम नवा उस्ताद जाफ़र हुसैन खान साहब जाफ़र हुसैन खान साहब का ताल्लुक़ रामपुर सेसवान घराने से है आपने कव्वाली को एक नया अंदाज इसलिए दिया कि आपने उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब से क्लासिकी मौसीकी की तालीम हासिल की और फिर उसको कव्वाली में इस्तेमाल किया आपने हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी अपनी कला का खूबसूरत प्रदर्शन किया है जिसमें Germany Japan Paris London Afghanistan Fiji और दूसरे कई ममालिक शामिल हैं सबसे पहले उस्ताद जाफ़र हुसैन खान साहब आपकी खिदमत में पेश करेंगे बहुत कौल और कौल अमीर खुसरो की देन है इस कवाली को कि मन कुन तो मौला फ़ाली उन मौलाई उस्ताद जाफर हुसैन खान साहब और उनके हम नवा मन थो अली जी वीर हो अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो कठिन हारा जगत में ईश्वर के सूरमा हज़रत अमीर खुसरो के कलाम से इब्तदा की दूसरी कवाली भी ये पेश कर रहे हैं हज़रत अमीर खुसरो की देन है ये भी कि बहुत ही कठिन है डगरपन घट की சொல்லிவா बहुत कठिन है डगर पर गति के बहुत I did it. जाफर हुसैन और उनके हमनवा कवाली पेश कर रहे थे और अब हमारे मेज़बान फनकार यहाँ तशरीफ लाएंगे उनका इंतज़ार है ये हमारे मेज़बान फनकार थे इसीलिए इनका वक्त थोड़ा सा कम रहा है लेकिन अभी जैसे कि मुझे कहा गया कि हो सकता है कि हम बाद में दोनों फनकारों को एक साथ मंच पर लाएं हजरात एक गुजारिश है मेरी कि ये कव्वाली का प्रोग्राम जो हो रहा है ये एक प्यार और एकता के लिए हो रहा है और ये एक ऐसा संगम है कि लोग इसको याद रखेंगे हालांकि आप जानते हैं कि हमारे हाजी गुलाम फरीद साहब और हाजी मकबूल साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं और ये किसी किस्म का कोई कंपटीशन या किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है मैंने सिर्फ अपनी कव्वाली आपके सामने पेश की उनके स्वागत के लिए हाजी गुलाम फरीद साबरी और उनके छोटे भाई मकबूल साबरी तशीफ लाइए हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी तहजीबों की जड़ें मोहनजोडारो गंधारा टैक्सला मथुरा बनारस अजंता अजमेर कुतुब मीनार ताजमहल और शालामार हर जगह फैली हुई हैं इंसानियत नवाज रिवायात हज़ारों साल से दोनों मुल्कों की सरजमीन का खासा रही हैं और आज भी हैं कव्वाली की ये महफिल जिसमें ग़ुलाम फरीद साबरी साहब और उनके छोटे भाई मकबूल साबरी साहब तशरीफ़ फरमा है उसी तहजीब व शाइस्तगी का तसलसल है तो आप कवाली के ऐसे फनकार हैं जिन्होंने अमीर खुसरो के रिवायती अंदाज को बड़ी खूबसूरती से अपनाया है और उसे पेश करने का हसीन ढंग भी पाया है इनकी ख़ास बात यह भी है कि आप दोनों भाइयों ने कव्वाली को आलमी पैमाने पर रोशनास कराया है दुनिया के बहुत कम मुल्क होंगे जहां आपकी आवाज़ का आहंग न गूंजा हो पाकिस्तान के हिंदुस्तानी सिफारत खाने में इनका एक प्रोग्राम हुआ और उनके बाद इन्हें कव्वाली सम्राट से भी नवाजा गया था एक अजीब बात आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जैसा कि भाई मकबूल साबरी साहब ने फरमाया कि अमेरिका के मशहूर सिंगर टॉम जॉन ने आपकी कंपोजिशन में कवाली अंदाज में अंग्रेजी का रिकॉर्ड कराया है इन्हें कितने ही एजाज़ात से नवाजा गया है जिनमें ख्वाजा निज़ामुद्दीन अलिया की दरगाह का बुलबुल हिंदो पाक एजाज़ भी शामिल है और राग रंग सोसाइटी की तरफ से श्रीमती नैना देवी ने इन्हें खुसरो रंग खिताब से भी नवाजा है पाकिस्तानी सरकार ने इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज़ बहुत पहले दिया है फ्रांस का चार्ल्स डिगाल अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है जो कि आज तक किसी एशियन फनकार को नहीं मिला जैसा कि आपका कहना है और अब खातिन हजरात मैं तो एक शेर हमेशा पढ़ता हूँ और वो आपकी नज़र और आपकी नज़र करूँगा खाजी साहिबान के मुल्क तकसीम हुए दिल तो सलामत हैं अभी मुल्क तकसीम हुए दिल तो सलामत हैं अभी खिड़कियां हमने खुली रखी हैं दीवारों में वाह खुदा करे पाकिस्तान के फनकार मुसविर अदीब सहाफ़ी इसी तरह से आते जाते रहें जैसे सार्क कॉन्फ्रेंस के मौके पर आ रहे हैं वहाँ भी कॉन्फ्रेंस हो हमारे लोग भी वहाँ जाएं प्यार और मोहब्बत का जज्बा बढ़ता रहे और आप जैसे फनकार इस जज्बे की आबियारी करते रहें खातिन हजरात मैंने नहीं लिखा कह रहे थे कि लिखो मैंने कहा नहीं आज ये महफिल आपकी महफिल है आप जो कुछ भी सुनाना चाहेंगे और आप खातिन हजरात जो कुछ भी सुनना चाहेंगे ये फ़नकार यहाँ मौजूद हैं और आप यहाँ मौजूद हैं शुक्रिया काफी अरसे के बाद यहाँ हाजिर हुए हैं और हमें एक चीज़ बड़ी सता रही थी और सताएगी और सताती रहेगी कि हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन अलिया रहमत के उर्स के मौके पे हम लोग यहाँ हाजिर हैं लेकिन हाजिरी नहीं हो सक रही आप लोगों ने इस किस्म का प्रोग्राम बनाया कि जिन तारीखों में दिल्ली में उर्स है हम लोग बाहर हैं यहाँ से तो बड़ी खैर बहरहाल ये है कि इनके जो खलीफा हैं बॉम्बे में उनका उर्स है मेरा ख्याल है सत्ताईस तारीख को बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है इन यहाँ आते रहेंगे और हाजिरी देते रहेंगे और आप लोगों को सुनाते रहेंगे आप लोगों को सुनाते रहेंगे हम सुनाएंगे और आप सुनेंगे सबसे पहले साजीना आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं उसके बाद कुछ अशार हम बेबारी ताला के होंगे उसके बाद एक नाशरीफ होगी उसके बाद फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं तो इन ताला हम सबकी फरमाइशें पूरी करने की कोशिश करेंगे और अगर किसी साहब की यह फरमाइश रह जाए तो वो जोधपुर तशरीफ ले आए <laughs> जोधपुर में ना आए तो भोपाल में तशरीफ ले आए